नमस्कार मित्रों ये वीडियो मणिपुर में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन तो जो मणिपुर में प्रॉब्लम है वो उसी टाइप का है जिस तरह का छत्तीसगढ़ में पर पूरा अलग डायरेक्शन में चला गया क्योंकि मणिपुर बॉर्डर के पास है इसलिए बड़े पैमाने पे वहाँ पे विदेशियों की मदद आने लगी छत्तीसगढ़ वगैरह में जो प्रॉब्लम है वहाँ पे विदेशियों की मदद कम आती है क्योंकि वो बॉर्डर से दूर है बेसिक प्रॉब्लम है कि जो आईएएस आईपीएस अफसर वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं मणिपुर में पब्लिक के पास तो उनके ऊपर ना ज्यूरी सिस्टम है ना राइट टू रिकॉल है तो अधिकतर आईएएस आईपीएस अफसर है वहां पे वो बड़े पैमाने पे भ्रष्ट हो जाते हैं मतलब मेन जो बाकी भारत के राज्यों में जितना दमन और भ्रष्टाचार है उससे अनेक गुना ज्यादा ट्राइबल एरिया में होता है ट्राइबल एरिया में क्यों भ्रष्टाचार और दमन ज्यादा होता है जब दमन की बात आती है तो एक कंसेप्ट आता है पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन में distance from power distance from power का मतलब क्या है कि हर एक आदमी अपने रिश्तेदारों का करीबी होता है जैसे कि आदमी उसके बेटों का करीबी होता है उसके भाई के करीब होता है उसके फादर के करीब होता है तो यदि दमन के प्रॉब्लम का कंपैरिजन करना हो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक कंपैरिजन करना हो कि एक कंट्री में दमन कम है दूसरे कंट्री में दमन ज्यादा है तो किस तरह से कर सकते हैं कि जो लोग है उसको ग्राफ में आप रखो ग्राफ यानी कि एक आदमी है और दूसरा आदमी है तो दोनों में क्या रिलेशन है कि वो उसका फादर है या उसका ब्रदर है या उसका आ, अंकल है या दो दोनों के बीच कोई रिलेशन है <clears throat> अब डिस्टेंस फ्रॉम पावर का मतलब क्या हुआ कि आदमी यदि खुद आईएएस आईपीएस अफसर है या जज है तो डिस्टेंस फ्रॉम पावर जीरो हो गया क्योंकि वो खुद पावरफुल है वो खुद आईएएस आईपीएस अफसर नहीं है लेकिन उसका फादर या उसका ब्रदर या उसका कोई अंकल आईएस आईपीएस अफसर है तो उसका डिस्टेंस पावर से वन हो गया अब वो अंकल है तो डिस्टेंस पावर से टू हो गया क्योंकि उसका रिलेशन उसके फादर के साथ है और उसके फादर का रिलेशन ब्रदर के साथ है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम पावर टू हो गया तो अब एक व्यक्ति पावर के करीबी है और दूसरा व्यक्ति पावर से बहुत दूर है तो इसमें दमन की संभावना बढ़ गई यदि दोनों व्यक्ति पावर से इक्विडिस्टेंट है तो एक आदमी दूसरा व्यक्ति का दमन करने की संभावना कम हो गई और ये स्टैटिस्टिकल फीचर है मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो कि पावर में बैठा है वो पावरलेस पे दमन करेगा कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो कि दमन नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हर एक आदमी जो कि पावर के करीब है वो जो पावर से दूर है उसका दमन करेंगे पर यदि सौ आदमी है वो पावर के करीब है और बाकी ऐसे हजार दस हजार लाख दस लाख लोग हैं जो कि पावर से सब दूर है तो सौ में से दस बीस पचास लोग वो लाख दो लाख जो पावर से दूर है उनका दमन करेंगे तो डिस्टेंस टू पावर कैसे इक्वल करना सोसाइटी के अलग अलग मेंबर में वो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन का एक सेंट्रल कंसेप्ट होता है जैसे ज्यूरी सिस्टम है वो डिस्टेंस बराबर कर देती है बराबर कैसे कर देती है कि मेरे और आपके बीच में झगड़ा हुआ अब मान लो वो झगड़ा जज के पास जाता है और जज मेरा रिश्तेदार है तो मैं आपका दमन करूंगा कैसे क्योंकि वो जज मुझे फेवर करेगा वो मेरा करीबी रिश्तेदार है लेकिन जूरी सिस्टम में 12 लोग वोटर लिस्ट में से रेंडमली सिलेक्ट हुए तो डिस्टेंस फ्रॉम पावर इक्वल हो गया क्योंकि वो 12 मेरे भी रिलेटिव नहीं है आपके भी रिलेटिव नहीं है वो मेरे भी कास्ट के नहीं है आपके भी कास्ट के नहीं है मतलब हम दोनों को वो बराबर की नजर से देखेंगे तो अब इसमें मेरे दमन करने की संभावना कम हो गई अब आमतौर पे कोई शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो तो वहाँ distance of power कैसे relatively कम होता है कि सिटी में जो एक randomly chosen citizen आप लो तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार कहीं पुलिस में इंस्पेक्टर होगा या कम से कम कांस्टेबल होगा या तो एमपीएमएलए होगा या तो आईएएस आईपीएस होगा तो शहर में एक आदमी है वो थोड़ा बहुत पावर के करीब है तो उसका बड़े पैमाने पे दमन करना थोड़ा मुश्किल होता है तो ग्रामीण इलाकों में दमन ज्यादा होता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आप randomly chosen voter लोगे और उसके relative का circle बनाओगे तो बहुत कम relative का circle IS, IPS या judiciary में होगा या politics में होगा और tribal area में वो और ज्यादा हो जाता है क्योंकि tribal area में ऐसी बस्तियां की बस्ती होगी जहां पे उनका दूर दूर तक कोई भी रिश्तेदार कांस्टेबल पीआई पीएसआई की नौकरी में भी नहीं है वो तहसीलदार की नौकरी में भी नहीं है क्योंकि वो पूरा इलाका अनपढ़ लोगों से भरा पड़ा है उनके वो भी अनपढ़ है उसके सारे रिश्तेदार अनपढ़ है उसके रिश्तेदार में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी एट्थ क्लास फेल होगा तो वो पूरा एक कस्बा है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है और जूरी सिस्टम तो है नहीं इंडिया में राइट टू रिकॉल तो है नहीं कि वो आ, आ, आ, अधिकारी पे धाक जमा सके कि भाई तूने बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म चलाया तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे तो वो एक पूरा ग्रुप हो गया हजार दस हजार लाख का ग्रुप हो गया जो कि पावर से बहुत ही दूर है तो जो लोग पावर के करीब है वो उनपे दमन करते हैं और दमन करते हैं किस तरह से अनेक प्रकार से जैसे मान लो वहां पे सूखा पड़ा सूखा पड़ा केंद्र सरकार ने अनाज भिजवाया अब शहरी इलाकों में मान लो केरोसिन आता है राशन कार्ड का सब्सिडी का तो आप देखोगे कि दस लीटर का केरोसिन आता है तो चार लीटर खा जाते हैं IAS, IPS, judiciary, MLA, MP वगैरह, लेकिन छह लीटर उसको मिलता है, तो चलो कुछ तो मिला, तो उसका विद्रोह करने की संभावना कम हो गई। लेकिन आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो वहां चार दस लीटर में से चार लीटर ही उसको मिलता है अब आदिवासी इलाके में जाओगे तो वहां दस लीटर में उसको एक लीटर भी नहीं मिलता तो दो तरह से दमन होता है कि कभी कभी उसके इलाके का जंगल है वो छीन लिया क्यों क्योंकि वहां पे खनन करना है और बदले में उसको एक पैसा भी नहीं दिया और वहां पे सूखा पड़ा या अकाल पड़ा या प्राकृतिक कोई आ, आ, संकट आ गया तो सरकार ने जो मदद भिजवाई उसका पांच प्रतिशत हिस्सा भी वहां पे नहीं भेजा तो वहां पे फिर विद्रोह की संभावना बढ़ती जाती है तो मणिपुर में जो घटना हुई वो किस तरह से हुई कि वहां पे एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और तब सरकार ने कोई मदद भेजी जो कि आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर थे वो खा गए और वहां पे बड़े पैमाने पे भूखमरी आने लगी इसलिए लाल डेंगा आप गूगल करोगे तो लाल डेंगा के टाइम से ये शुरुआत हुई तो लाल डेंगा ने वहां पे एक विद्रोही संगठन की शुरुआत की पहले शुरुआत में उन्होंने विद्रोह नहीं की थी शुरुआत में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन और वो सब किए थे सिविल मतलब सभ्य तरीके जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करना आ, वो सभी किया लेकिन जो आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर और वहां के जो लोकल पॉलिटी थे उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो भ्रष्टाचार था उनका चालू रखा मतलब सरकार ने चावल भिजवाया तो वो चावल दिल्ली में ही बेच दिया पैसा खा के तो फिर अब मणिपुर जो है वो बॉर्डर के करीब है तो सीधा चीन जैसे देशों ने उनको हथियार भेजने शुरू किए तो ऑटोमेटिकली होगा भाई तुम तो ये नारेबाजी करते हो ये अनशन करते हो कुछ होता तो नहीं है उसके बजाय हथियार चलाओ तो इससे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो पावरफुल हो गया इंटीरियर इलाके में एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पावरफुल होना मुश्किल है क्यों मुश्किल है क्योंकि उनको आसानी से हथियार नहीं मिलेंगे पास में बॉर्डर नहीं है जबकि बॉर्डर इलाके में यदि कोई एक्सट्रीमिस्ट मिलता है तो यदि उस पहले तो मान लो उस एरिया में यदि गरीबी नहीं है तो उस एक्सट्रीमिस्ट को कोई घास नहीं डालने वाला उसके पास हथियार आ गए लेकिन लोग उसको मिलने नहीं वाले क्योंकि लोग शासन से संतुष्ट है तो सिर्फ हथियारों से मूवमेंट नहीं चलती हथियार भी होने चाहिए और बड़ी संख्या में गरीब गरीबी और भूखमरी भी होनी चाहिए क्योंकि जिसके पास हथियार है उसको हथियार चलाने के लिए लोग तो चाहिए तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वहां मणिपुरी में जब सूखा पड़ा तो बड़े पैमाने पे भूखमरी हुई और तब गवर्नमेंट ने जो मदद भेजी वो वहां के आईएएस आईपीएस अफसर खा गए और वहां right to recall district supply officer नहीं था जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होता है उसका काम होता है कि ये देखना कि भाई सरकारी गोडाउन में जो माल आया वो राशन कार्ड की दुकान तक पहुंचे और राशन कार्ड की दुकान से लेके व्यक्ति के घर तक पहुंचे और उसके पास पावर भी होता है दुकानदार बदलने का पावर होता है आ, जो गोडाउन होते हैं वो उसके अंडर में होते हैं यदि वो नॉन करप्ट हो तो जो 10 किलो अनाज आया उसमें से 7 आठ 9 किलो घर तक पहुंचेगा पर यदि वो करप्ट है पूरा का पूरा तो 10 किलो में से गोडाउन तक ही नहीं आएगा वो दिल्ली में ही पूरा का पूरा माल है वो दिल्ली के ब्लैक मार्केट में ही बिक जाएगा तो right to recall district district supply officer था नहीं वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम था नहीं तो बड़े पैमाने पे करप्शन की वजह से सारा का सारा जो गवर्नमेंट हेल्प पहुंचती थी वो गायब हो गई तो ऐसे में विदेशी सत्ताएं जो थी उन्होंने हथियार दिए देने शुरू किए और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई अब वहां पे सेना किस तरह से फंस गई वहां का जो एस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन है ज्यूडिशरी है वो क्या करता है वो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करता है भ्रष्टाचार के सामने जब विद्रोह होता है तो दमन करने के लिए सेना को आखिरी मोमेंट पे भेज देते हैं कि भाई यहाँ पे विद्रोह हो रहा है जाके दमन करो तो सेना के पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पावर नहीं है सेना के, सेना ये नहीं कह सकती कि राशन कार्ड की दुकान ठीक करो कि लोगों को राशन टाइम से मिलना चाहिए सेना ये नहीं कह सकती कि अस्पताल ठीक करो कि भाई लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही उनको दवाइयां मिलनी चाहिए डॉक्टर मिलने चाहिए सेना को ऑर्डर दिया जाता है आखिर मोमेंट पे जब बड़े पैमाने पे विद्रोह आता है तो विद्रोह को दमन करने का ऑर्डर दिया जाता है और सेना के अंदर जो डिसिप्लिन है वो बहुत रिजिड है कि ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई यहाँ पे विद्रोह हो रहा है जाके फायरिंग करो फायरिंग नहीं करता अफसर तो वो उसकी नौकरी जाएगी उसको वहीं पे आ, आ, तो जो डिसिप्लिन का फैक्टर होता है उसकी वजह से जो कमांडिंग ऑफिसर है वो मजबूर है उसको बोला कि भाई यहाँ पे जाके फायरिंग करो तो वहां जाके उसको फायरिंग करनी पड़ती है अब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है आईएएस आईपीएस वो क्या करता है बड़े पैमाने पे धांधली करता है और जब धांधली के सामने धांधली की वजह से विद्रोह होता है तो वो सीधा भाग जाता है और सेना को भेज देता है कि भाई जा, तुम जाके विद्रोही को दबाओ वो विद्रोही को दबा देते हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन फिर से आ जाता है फिर से वो धांधली करता है फिर से विद्रोह होता है फिर से वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भाग के कैपिटल में छिप जाएगा और सेना को भेज देगा कि तुम जाके दमन करो अब इसमें जब अमेरिका के जो चर्च थे एवेंजिलिकल और सदर्न बैप्टिस्ट ये दो चर्च पूरी दुनिया में गदर मचा रहे वो मणिपुर में भी पहुंच गए उन्होंने देखा कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर गरीबी है सरकारी right to recall district education officer है नहीं इसलिए जो गवर्नमेंट की स्कूलें थी वहां पे टीचर भी नहीं होता था ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे कुछ भी नहीं होता था वो सारा पैसा आता था वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खा जाते थे और उसके ऊपर का कलेक्टर और वो सब खा जाते थे तो उन्होंने स्कूल चलाने शुरू किए और फिर वहां पे बड़े पैमाने पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया अब वहां पे अस्पताल चर्च चलाते हैं स्कूल चर्च चलाते हैं क्यों स्कूल और आ, क्यों चर्च चलाते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा करप्ट है यदि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक होता तो सरकारी स्कूल ठीक ठाक चल रहे होते तो चर्च के स्कूल में कोई जाता ही नहीं तो अब चूंकि लोग लोगों को खाना चर्च दे रहा है दवाइयां चर्च दे रहा है एजुकेशन चर दे रहा है तो वो पादरी की बात सुनेंगे वहां पे जो भी है तो वो उन्हें भारत की सेना के खिलाफ भड़काता है तो वहां के जो लोग हैं वो भारत की सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हैं सैनिकों का अपमान करते हैं तो उससे सैनिक और भड़कते हैं तो जो सेना और लोगों के बीच जो संघर्ष है वो और तनावपूर्ण हो जाता है इसकी वजह से और इसके ये एक तरह का सर्कल ही बनता जा रहा है कि वहां पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा वहां के जो भी सिविलियन डिपार्टमेंट है उसका भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा वो बढ़ता ही आ रहा है वहां पे जो भी अफसर आता है वो ये सोचता है कि कैसे मैं 100-200 करोड़ कमा लू और उसका एक हिस्सा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज के अपना तबादला दिल्ली में या किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट पे करा लू और उसकी वजह से वहां पे सेना और लोगों में संघर्ष बढ़ रहा है और सेना को वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने का ना पावर है न ही सेना के पास वो स्किल होता है न ही सेना के पास वो ऑप्शन होता है सेना को आखिर मोमेंट पे भेजता है कि भाई यहाँ पे गदर मचाए जाके लोगों को दबा दो मारो पीटो जो करना है करो पर यहाँ पे जो गदर हो रहा है वो दबा दो अब जो सेना है उसके पास भी स्टाफ कम है इसलिए वहां पे छुट्टियां नहीं दे रहे जैसे अमेरिका में मैं आपको एक पॉलिसी बताऊं कि जो अमेरिका के सैनिक एक महीना इराक में काम करता है उसको एक महीना छुट्टी मिलती है मिनिमम और छुट्टी उसको अमेरिका में उसके घर पे मिलती है paid vacation fully paid vacation उसको वो तीन महीना फैमिली से दूर रहता है तो तीन महीने फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है फिर जो इराक में उसको जहां उसको रखा है वहाँ आसपास सारी फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं अच्छे होटल होते हैं अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं अच्छे बार होते हैं हर तरह की फैसिलिटी मिलिट्री इनडायरेक्टली देती है मिलिट्री कैसे कि मिलिट्री देखती है कि यदि हमने बड़े पैमाने पे दारू आ, के अड्डे रखे तो हमारी बदनामी होगी इसलिए वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देती है मतलब किस तरह से मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को मिलिट्री से बहुत सारा काम मिलता है इसलिए मिलिट्री को पैसा देने की भी जरूरत नहीं है कि जो आदमी वहां पे मान लो मिलिट्री को सप्लाईज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं कि भाई तू मिलिट्री का जो बैरक है उसे एक दो किलोमीटर दूर एक बार खोल और वहां पे हमारे सैनिकों को सारी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी सस्ते दामों पे मिलनी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर भी देखता है कि भाई मिलिट्री मुझे करोड़ों रुपया कमा के दे रही है तो यदि दस पांच लाख इधर मुझे खर्चने पड़े तो मुझे कोई इतना दो परसेंट मेरा पांच परसेंट प्रॉफिट कम हो गया तो मिलिट्री डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करती पर अपने सैनिकों को हर तरह का एंटरटेनमेंट मिले उसकी सुविधा रखती है अब इंडिया में जो सैनिक है उसकी सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू प्राइवेट मतलब उसी टैलेंट लेवल का आदमी यदि पुलिस में या प्राइवेट में काम करता है तो उसको इनकम डबल से तीन गुनी होती है तो जो सैनिक है वो फ्रस्ट्रेटेड है इकोनॉमिकली प्लस उसको छुट्टियां नहीं मिल रही कभी कभी छह छह महीने तक उसको मणिपुर में रखा जाता है या तो ट्रांसफर मिली तो मणिपुर से कश्मीर में तो वहां भी उतनी हार्डशिप होती है तो जो कंसेप्ट है कि भाई यदि छह महीने उसको या एक महीने हार्डशिप में रखा गया तो अब तुरंत एक महीने उसको फैमिली के साथ रहने दो वो फैसिलिटी यहाँ पे मिल नहीं रही इसकी वजह से सैनिक भी बहुत टेंस रहते हैं तो विदेशी है वो बड़े पैमाने पे हथियार भेज रहे हैं चाइना है वो थ्रू बर्मा और दूसरे देश बांग्लादेश बड़े पैमानों पर वहां हथियार भेज रहा है तो मिलिटेंट वहां पर बहुत एग्रेसिव है मिलिटेंट को लोग क्यों मिल जाते हैं क्योंकि वहां दमन हो रहा है और एक्सप्लोटेशन हो रहा है और एक्सप्लोइटेशन है वो वहाँ का सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पे जो सरकार के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक परमानेंट टेंशन की सिचुएशन बन रही है अब इसका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन कि यदि जो एमआरसीएम है कि मिनरल्स पे जो रॉयल्टी है वो सीधी सिटीजन के खाते में जमा होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली उससे गरीबी कम हो जाएगी और मैंने उसमें दूसरे भी प्रपोजल रखे हैं जो एमआरसीएम का चैप्टर है चैप्टर फाइव ये मेरा मैनिफेस्टो है right to recall party manifesto right to recall party manifesto ये डाउनलोड कॉपी इसका 100 परसेंट फ्री है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M पांच सौ पचास पेज है टोटल यदि आपको पचास पेज यदि आपको डाउनलोड करने के बाद लगे कि भाई इसकी प्रिंट कॉपी चाहिए तो प्रिंट कॉपी मेरे ऑफिस में सौ रुपए में मिलेगी और यदि आपको कुरियर चाहिए तो सौ रुपया प्लस कुरियर चार्ज डेढ़ सौ रुपया है तो ढाई सौ रुपये का चेक आपको भिजवाना पड़ेगा एड्रेस मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा राहुल मेहता डॉट कॉम पे इसके चैप्टर फाइव में मैंने एमआरसीएम डिस्क्राइब किया है एमआरसीएम में मैंने लिखा है कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको डबल पैसा मिलेगा डबल पैसा क्यों मिलेगा कि बॉर्डर एरिया पे हार्डशिप ज्यादा है और विदेशी सेना जब अटैक करती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उनको होती है सबसे पहले वो लोग मरते हैं और कभी जान भी जाती है उनका घर भी जल जाता है कुछ भी हो सकता है उनके साथ जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं और हमारे साथ बांग्लादेश हम पे अटैक करने की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बर्मा शायद अटैक ना करे लेकिन चीन के प्रभाव में आके हो सकता है बर्मा भी हम पे अटैक कर दे तो उसकी वजह से जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको एमआरसीएम से डबल पैसा मिलना चाहिए वो मैंने सब इसमें लिखा और उसके रीजन भी दिया है तो ऑटोमेटिकली मणिपुर में गरीबी कम हो जाएगी उसके बाद जो right to recall district supply officer तो राशन कार्ड का जो अधिकारी है उसको नौकरी से निकालने का पावर जब लोगों के पास हो जाएगा तो पूरा राशन कार्ड सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इससे लोगों का रहन सहन सुधर जाएगा फिर right to recall district education officer उसकी वजह से सरकारी स्कूल सुधर जाएंगे right to recall district health officer उससे सरकारी अस्पताल सुधर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को जो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल और अस्पताल में जाने की जरूरत है वो कम हो जाएगी तो इससे प्रॉब्लम्स ये जो समस्या है वो कम हो जाएगी धन्यवाद